का स्मरण सर्वव्यापक सर्वांतरियामी परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ सज्जनों परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के सत्य स्वरूप को मन में मस्तिष्क में अपने ज्ञान में हमें रखना होता है परमात्मा का ठीक स्वरूप मन में ना हो ज्ञान में ना हो तो परमात्मा को मानते हुए भी उसको पाने का प्रयत्न करते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए परमात्मा के प्रत्येक गुण को विभिन्न दृष्टिकोणों से परमात्मा के गुणों को जानना समझना हमारे लिए आवश्यक है परमात्मा के गुणों को जान करके फिर परमात्मा को उसी रूप में स्वीकार करना और उसी रूप में उसे संबोधित भी करना ये उस ज्ञान को दृढ़ बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया है परमात्मा को हमने जैसा स्वीकार किया सत्य रूप में और उसी रूप में उन विशेषणों के साथ में जब उसे संबोधित करते हैं तो संबोधन के साथ जब हम उसी भावना को बनाते हैं तो मन पर एक और संस्कार उस विषय में डालते हैं परमात्मा का स्वरूप एक बार समझ लेने से कुछ महीनों वर्षों तक विचार कर लेने से सबका पूर्ण दृढ़ हो जाता हो ऐसा नहीं उसमें शिथिलता आती रहती है आ सकती है इसलिए परमात्मा को विभिन्न उपयुक्त संबोधनों से संबोधित करते हुए परमात्मा के स्वरूप को उसकी भावना को हमें करना होता है संस्कार उससे डालने होते हैं महर्षि दयानंद ने जो संबोधन दिए उनमें एक संबोधन जो परमात्मा के स्वरूप का वाचक है उन्होंने कहा निराकार हे परमात्मा आप निराकार हैं आकार रहित हैं वैदिक धर्मी को आर्य को परमात्मा को सदैव निराकार रूप में स्वीकार करना होता है सामान्य रूप से परमात्मा को निराकार मानते हुए भी अन्य विभिन्न रूपों में हम उसको साकार मानने लग जाते हैं अन्य व्यक्तियों की जो सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलते रहते हैं जो परंपरा में आ गया उसी में अपने को चलाते रहते हैं उनमें परमात्मा को साकार स्वीकार करना एक व्यापक प्रचलन है और जब भी परमात्मा की बात आती है चर्चा चलती है तो ये बिंदु प्राय प्रमुखता से सर्वप्रथम आता है कि आप साकार परमात्मा को मानते हैं या निराकार परमात्मा को मानते हैं परमात्मा के अन्य बहुत से गुणों में दृष्टि भेद इतना नहीं है परमात्मा को सर्वशक्तिमान लगभग सभी स्वीकार करते हैं चाहे वो साकार माने चाहे निराकार माने उसको ज्ञानवान आनंद रूप न्यायकारी चेतन सृष्टि का रचयिता पालन करता पूजनीय उपास्य ये बहुत सारी चीजें लगभग समान रहती हैं लेकिन ये एक बिंदु बड़ा विभाजन करता है एक बड़ा वर्ग परमात्मा को साकार मानता है और एक बड़ा वर्ग निराकार मानता है साकार का मतलब है जो आकार से युक्त है जिसमें रूप गुण है जिसकी कुछ विशेष प्रकार की रचना है विशेष घेराव है कुछ उसका ज्ञान हमें इंद्रियों से होता हो उसे साकार कहेंगे और निराकार का मतलब है परमात्मा रूप गुण से युक्त नहीं है जिस तरह रूपवान वस्तुएं किसी निश्चित आकार प्रकार की होती हैं उस तरह का वो नहीं है उसका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष से ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष से नहीं होता जो परमात्मा को साकार मानते हैं उनमें भी साथ में ये मान्यता है वो स्वीकार करते हैं कि परमात्मा निराकार भी है अधिकांश साकार मानने वाले परमात्मा को निराकार भी मानते हैं परमात्मा को कण कण में व्यापक भी मानते हैं ये एक अंतर विरोध है जो कि विचार न करने के कारण से साथ साथ चलता रहता है उनसे जब पूछा जाए कि जब आप परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं कण कण में विद्यमान मानते हैं अति सूक्ष्म मानते हैं तो उसका ये साकार रूप ये मूर्ति ये चित्र इसे क्यों भगवान मानते हैं तो कहते हैं ये तो केवल उसका प्रतीक है कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है ये भगवान नहीं है लेकिन इसमें भगवान है हम इसकी उपासना कर रहे हैं ये तो केवल ध्यान को एकाग्र करने के लिए है मन को टिकाने के लिए है तो परमात्मा या कोई भी वस्तु जैसी होती है उसका प्रतीक वैसा ही होना चाहिए या तो हम उसको प्रतीक झंडे के रूप में समझें चिन्ह के रूप में समझें अगर ऐसा ही हमारा ज्ञान कम कर रहा है तो अन्य कुछ प्रतीकों की तरह एक अलग बात है लेकिन वास्तव में हम उसको प्रतीक रूप में कहते मात्र हैं हम तो उसी को भगवान मानने लगते हैं किसी देश का ध्वज झंडा उस देश का प्रतीक है लेकिन झंडे को हम देश नहीं मानते एकदम स्पष्ट हमें पता है देश अलग है लेकिन जो प्रतिमा को चित्र को भगवान मानते हैं साकार को भगवान मानते हैं वो उसे ही भगवान मानते हैं और जो ये कहते हैं कि इसके अंदर भगवान है तो फिर भगवान सब जगह है फिर यही क्यों आप भगवान को मान रहे हो यही क्यों मान रहे हैं परमात्मा तो सर्वत्र है तो कहीं भी मान लीजिए और यदि केवल एकाग्र करने की बात है तो एकाग्रता किसी में भी हो सकती है उसको भगवान से जोड़ करके ही क्यों कर रहे हैं किसी भी मनुष्य में किसी भी वस्तु में एकाग्रता के लिए मन को टिका सकते हैं वो कहें कि नहीं हमें परमात्मा का ध्यान करना है इसलिए तो यदि आपको परमात्मा का ध्यान करना है तो परमात्मा पर ही तो मन टिकाएंगे मन को परमात्मा पर टिकाने के लिए प्रतिमा चित्र पर मन को लगाया उसको आधार बनाया और ध्यान करना चाहते हैं परमात्मा का लेकिन वो जब ध्यान करते हैं तो क्या उनके मन में रहता है मन में वही मूर्ति प्रतिमा वही चित्र बना रहता है कहने को ये कह रहे हैं कि ये एक साधन है ध्यान तो हमें परमात्मा का करना है लेकिन आप ध्यान के काल में किसको मन में विचारते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी ध्यान के काल में उसी प्रतिमा को ले आते हैं किसी अन्य समय में उपासना से भिन्न समय में जब वो परमात्मा को भगवान को स्मरण करते हैं तो उन, उनके मन में वही प्रतिमा वही चित्र आ जाता है यदि ये केवल एकाग्रता का कारण होता तो मन को एकाग्र करके और फिर भगवान का ध्यान होना चाहिए था जो कि निराकार है लेकिन वो वहां नहीं कर पाते अर्थात जिसको उन्होंने माध्यम बनाया था वो ही उनका लक्ष्य बना रहता है तो भगवान का ध्यान करना चाहते हुए भी वो भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं और स्वयं उस बात को समझ नहीं पाते भावना ठीक है कि हम भगवान का ध्यान करें करना चाहिए लेकिन स्वयं अपना निरीक्षण नहीं कर पाते कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं या उस प्रतीक का ध्यान कर रहा हूं तो प्रतीक इस रूप में भगवान का कभी नहीं लेना चाहिए नहीं तो भगवान का ध्यान छूट जाएगा और वो प्रतीक ही भगवान के रूप में आ जाएगा जो कुछ और समझदार हो जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है ये जड़ वस्तुएं भगवान नहीं है ये प्रतिमा चित्र लेकिन जो ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं माता पिता गुरुजन कोई संत कोई ऋषि ये तो भगवान है इन्हीं को भगवान समझो तो उनका भगवान का ध्यान भी उन मनुष्यों का ध्यान ही करना रहता है कोई व्यक्ति ये सोचने लगते हैं नर ही नारायण है प्रत्येक नर प्रत्येक मनुष्य भगवान ही है भगवान का रूप है हमें तो मनुष्य के रूप में ही भगवान को देखना है हर मनुष्य की सेवा दीन दुखी की सेवा वो लोग करने लगते हैं नर की सेवा ही नारायण की सेवा है ठीक है मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए तीन दुखियों का उपकार करना चाहिए वो धर्म है कर्तव्य है किंतु उसको करते करते उस भावना को इतना मन में बैठा लेना कि उसे ही भगवान समझने लगना उसे ही नारायण समझने लगना ये फिर एक दोष का कारण बनता है वो साकार है और कोई इससे भी ऊपर जाता है तो वो कहता है कि मैं प्रकृति को ही भगवान मानूंगा मनुष्यों को नहीं ये प्रकृति ही भगवान का रूप है भगवान को तो किसने देखा है मैं तो इस प्रकृति को ही भगवान मानता हूं प्रकृति के उपकारों को देख करके प्रकृति की व्यवस्था को देख करके बस यही भगवान है तो ये भी साकार में अपने को टिका देता है और ये जितने भी साकार को मन ये जितने भी साकार पर मन को टिकाने वाले हैं वे साकार के अन्य गुणों को भी भगवान में परमात्मा में देखने लगते हैं देखने लगेंगे जितने भी ये साकार हैं इनकी अपनी एक सीमा है इनकी उत्पत्ति दिखाई देती है इनका नाश दिखाई देता है नहीं दिखता तो उसकी संभावना है ये कुछ समय बाद में समाप्त हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे तो साकार को भगवान मानने वाला परोक्ष रूप से उस साकार के अन्य गुण धर्मों को भी परमात्मा में मानने लगेगा और इस प्रकार से परमात्मा के विशिष्ट गुणों से वो दूर होता जाएगा सीमित कर लेगा अपने को यदि व्यक्ति विचार करे दूसरे क्या कहते हैं एक अलग बात है वो जो मानता है जब वो सोचता है कि परमात्मा पाप पुण्य कर्मों का फल देता है न्यायकारी है सृष्टि रचयिता है तो यदि वो ये सोचे कि जिसको मैं भगवान मान रहा हूं ये जो सामने प्रतिमा है चित्र है क्या ये न्याय करती है क्या ये सृष्टि की रचना करती है क्या ये सृष्टि का पालन कर रही है जिसने सृष्टि की रचना की वो सृष्टि से पहले होना चाहिए ये जो सामने प्रतिमा या चित्र है या कोई मनुष्य है कोई संत है ये सृष्टि के पहले से है या सृष्टि के बाद के हैं जिन गुण धर्मों को वो भगवान में मानता है और साकार को भी भगवान मानता है वो थोड़ा सा इनमें तालमेल बैठाने का प्रयास करे क्या ये गुणधर्म इसमें घटते हैं थोड़ा भी विचारशील है तो उसको एकदम स्पष्ट होगा कि नहीं ये जो सामने प्रतिमा या मनुष्य संत दिखाई दे रहे हैं ये वो भगवान नहीं हो सकते जिन्होंने सृष्टि की रचना की है क्योंकि ये तो सृष्टि के बाद आए हैं ये निश्चित है ये मनुष्य ये संत बाद में उत्पन्न हुए हैं इनका अपना इतिहास है ये प्रतिमा भी अभी बनी है तो परमात्मा को साकार मानने वाला पक्ष उन लोगों का है जो अपनी मान्यता पर विचारों पर विचार नहीं करते उनमें सामंजस्य है या नहीं है ये नहीं देखते अंधश्रद्धा से लोगों ने कह दिया तो बस मानते चले जाते हैं जिस वर्ग ने ये समझ लिया है कि ये चीजें ये साकार चीजें ये प्रतिमा चित्र मनुष्य महापुरुष प्रकृति ये परमात्मा नहीं है और ये पता लगा कि इन भार की वस्तुओं में को पा करके हम भगवान को नहीं पा सकते परमात्मा को पाने के लिए तो अंदर जाना होगा तो वो निराकार की उपासना करने बैठते हैं परमात्मा को जानने समझने के लिए वो भी शब्द के प्रतीक को स्वीकार करते हैं कोई भी शब्द हो जैसे कि ओम परमात्मा का बहुत प्रसिद्ध और मुख्य नाम है ओम यानी परमात्मा ये संबंध उसका बन जाता है और धीरे धीरे ओम शब्द और परमात्मा उसके एक ही हो जाते हैं ओम की लिखावट के प्रति वो उतना आदर रखने लगता है जितना परमात्मा के प्रति ओम शब्द के उच्चारण में शब्द में श्रवण में वो वो भाव रखने लगता है जो कि परमात्मा में ये लिखा हुआ ओम और बोला हुआ ओम शब्द परमात्मा का प्रतीक है परमात्मा के अर्थ का बोधक है संकेतक है लेकिन ये निराकार मानने वाला भी जब साधना करने बैठता है तो ओम का जप करना है ये बताया गया भगवान का स्मरण करना चाहिए ये बताया गया तो ओम का चरण करता है या अन्य शब्द का और उस शब्द को ही सामने देखने लग जाता है आंखें बंद करके अंदर का रूप जिस भी रूप में उनके घर में लिखा हो या मस्तिष्क में बैठा लिया हो उसे ध्यान में ले आते हैं कि इसके माध्यम से मन को एकाग्र कर रहा हूं और उसी पर मन को टिका देते अब ये भी परोक्ष रूप से साकार परमात्मा की उपासना करने लग गया परमात्मा को साकार मानने लग गया सोचा यह था मैं परमात्मा को निराकार मानूंगा और निराकार की उपासना कर रहा हूं लेकिन वो साकार की ही कर रहा है क्योंकि जिस शब्द को वो देख रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई रंग रूप सब है ये ठीक है कि नेत्र बंद कर रखे हैं लेकिन अंदर मन में जो चित्र बना लिया है उस रूप में तो परमात्मा को साकार ही वो मान बैठा है ऐसे निराकार उपासक भी परमात्मा को साकार ही मान रहे हैं इसी तरह से कोई वेद का मंत्र जो कि परमात्मा के गुणों को बताता है उसको ले आना उसका मन ही मन उच्चारण करना उस शब्द में खो जाना यहां तक जब व्यक्ति सीमित कर लेता है अपने को तो वो भी परमात्मा को निराकार नहीं मान रहा इसलिए परमात्मा को निराकार संबोधित करना भी एक महत्वपूर्ण बात है और ये देखना कि मैं परमात्मा को निराकार ही स्वीकार कर रहा हूं या नहीं परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसको निराकार रूप में ही स्वीकार करना आवश्यक है कुछ व्यक्तियों ने जब ये जाना कि ज्ञान इंद्रियों से परमात्मा को नहीं जान सकते ठीक है परमात्मा का ज्ञान आंखें बंद करके अंदर होता है ठीक है आंख बंद करके बैठ गए अब आंख बंद करते जो अंधेरा दिख रहा है उस अंधेरे को तो परमात्मा नहीं मान सकते क्योंकि परमात्मा अंधकार रूप नहीं है लेकिन वो अंदर खोज में लगता है ध्यान में परमात्मा की खोज करता है कि बाहर तो परमात्मा दिखता नहीं है दिख नहीं सकता परमात्मा मिलेगा तो अंदर मिलेगा अब वो अंदर खोज करने लगता है और आंखों के सामने नेत्र बंद करने पर वो जो अंधकार दिखता है उसको तो वो परमात्मा नहीं स्वीकार कर रहा है लेकिन उसी खोज में जब उसमें उसे कुछ प्रकाश दिखाई देता है तो ये समझने लगता है कि ये परमात्मा की झलक मिल रही है क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और ध्यान करते समय विभिन्न प्रकाश तरह तरह के प्रकाश आते हैं छोटा बड़ा अलग अलग रंगों का हल्का बहुत तीव्र चमकीला ये सब चीजें होती रहती हैं और वो ये मान बैठता है कि परमात्मा का प्रकाश है और यही परमात्मा का दर्शन है कहने में बोलने में समझने में वो यही समझ रहा है कि मैं परमात्मा को निराकार मानता हूं लेकिन ऐसा उस प्रकाश को परमात्मा मानते हुए वो अनजाने में परमात्मा को साकार ही मान बैठा है ध्यान काल में जो प्रकाश दिखाई देता है ये परमात्मा का प्रकाश नहीं है यदि इसे हम परमात्मा स्वीकार करें तो ये तो साकार है ये रंग वाला है इसकी आकृतियां हैं तो आर्य को परमात्मा निराकार रूप में ही स्वीकार करना है हे परमात्मा आप निराकार हैं तो ध्यान काल में जो जो भी साकार चीज आएगी उसको वो हटाता जाएगा नहीं ये परमात्मा नहीं है वो भ्रांतियों के कारण अटकेगा नहीं जैसे एक लौकिक व्यक्ति प्रतिमा या चित्र में भगवान को मान लेता है और परमात्मा के दर्शन हो गए ये स्वीकारता रहता है और कभी स्वप्न में वो आ जाए चित्र वो प्रतिमा उसी रंग रूप वाला बोलते हुए तो उसे लगता है कि परमात्मा के परमात्मा ने दर्शन दिए बड़ी कृपा की है इस रूप में उसमें एक अंतर्विरोध है उस प्रतिमा को भगवान मानते हुए भी उस प्रतिमा के दर्शन को वास्तव में परमात्मा का दर्शन नहीं मानता है क्योंकि तभी तो वो स्वप्न में जब वो आते हैं तब कहता नहीं आज तो परमात्मा ने दर्शन दिए मुझे क्योंकि बाकी समय तो वो खुद चल के जाता है वहां पर ये तो परमात्मा आए दर्शन देने तो भेद तो दोनों में वो भी देखता है लेकिन ऐसा व्यक्ति जब स्वप्न में बार बार रोज उन्हीं चीजों को देखता है और वो देखेगा क्योंकि वो प्रतिदिन वैसी ही उपासना करता है उसको बताया गया इस चित्र को बार बार मन में लाओ ध्यान में लाओ तो स्वाभाविक है स्वप्न में भी उसे वही आने लगता है और वो उसे ही परमात्मा का दर्शन मान बैठता है लोगों को भी कहता है परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए हैं और इसके साथ में ये बात जुड़ जाती है कि परमात्मा चूंकि पवित्र आत्माओं को श्रेष्ठों को ही अपना दर्शन कराता है योग्य को ही अपना दर्शन कराता है तो अपने को योग्य मान लेता है भले ही व्यवहार में परमात्मा के आदेशों का उल्लंघन कर रहा हो लेकिन वो अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना से युक्त हो जाता है और इसी तरह अन्यों को प्रस्तुत भी करता है और अन्य भी उसको समझने लग जाते हैं और ऐसा करने से परमात्मा का स्वरूप ही विकृत होता है क्योंकि लोग देखते हैं कि ये तो इसका जीवन ऐसा है और ये कह रहा है कि मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए हैं तो परमात्मा ऐसे लोगों को भी दर्शन दे देता है कैसा परमात्मा है और दूसरे लोग भी उसी प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं फिर कि कैसे आपको हुआ दर्शन मतलब ऐसे ऐसे जप करता था ऐसे चिंतन करता था ऐसे सोते समय उस स्मृति में बैठा करके सोता था तो एक दिन दर्शन दे दिए दूसरे भी उसी में लग जाते हैं ऐसे ही ये जो अंदर ध्यान करने वाला इस प्रकाश को परमात्मा मान लेता है तो उसी में संतुष्ट हो जाता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया और ये प्रकाश तो प्रतिदिन ऐसे ही दिख जाता है थोड़े से प्रयास किसी को भी दिख जाता है और वो वहीं अटक के रह जाएगा जो परमात्मा को साकार मानेगा वो वहीं अटक के रह जाएगा क्योंकि उसे बोध हो गया है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है जिसे वो परमात्मा जानता है उसको देख रहा है अनुभव कर रहा है तो वो कैसे छोड़ सकता है ये कैसे कह सकता है कि मैंने परमात्मा को नहीं जाना अब परमात्मा को जानना ही तो लक्ष्य था जब लक्ष्य पा लिया तो अब प्रयत्न किस लिए वहीं अटक के रह जाएगा परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा को निराकार मानना होगा जिस चीज में हमें भगवत्ता दिखाई दे उत्कृष्टता दिखाई दे चाहे छोटे बच्चे को माँ बाप में किसी को चिकित्सक में न्यायाधीश में मन में भाव उठता है ये तो भगवान जैसा है अति बलवान को देख करके अति ज्ञानवान को देख करके अति आध्यात्मिक व्यक्ति को देख के लगता है ये तो भगवान है ये तो मनुष्य नहीं है ये तो बहुत ऊंचा है लेकिन यदि उसे याद है कि परमात्मा निराकार है तो वहां वो रुकेगा नहीं उसकी यात्रा वहां रुकेगी नहीं वो आगे चलेगा उनको यथार्थ रूप में श्रेष्ठ मानेगा लेकिन वहां रुकेगा नहीं जो परमात्मा को साकार मानते हैं परमात्मा का स्वरूप उन्हें जहां प्रतीत होता है बस वहीं रुक जाएंगे वो चाहे माता में रुके और चाहे किसी गुरु में रुके रुक जाएंगे वो और जिसे स्पष्ट है आर्य को कि परमात्मा निराकार है तो कितना भी कोई प्रभावित करने वाला हो उसे वो भगवान तो नहीं मानेगा उसे भगवान का स्थान नहीं देगा उसे भगवान के तुल्य नहीं मानेगा और इसलिए उसकी यात्रा चलती रहेगी प्रकृति से कितना भी प्रभावित होगा उसको छोड़ देगा नहीं ये भगवान नहीं है और इसी तरह से जब वो अंदर भी जाएगा ध्यान भी करेगा वहां भी जो जो चीजें उसे साकार दिखाई देंगी उसको छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा कभी भी इस भ्रांति में नहीं आएगा कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया इन साकार चीजों से इसलिए परमात्मा को निराकार संबोधित करना आवश्यक है अनिवार्य है उस निराकार की भावना मन में रखना जब जब परमात्मा के गुणों को देखना है तो निराकार है ये साथ में रखना है तो परमात्मा के विभिन्न गुण जहां भी दिखाई देंगे वहां वो रुकेगा नहीं और पार करता जाएगा परमात्मा के प्रति निराकारता का भाव हमारा पूरी तरह निराकार रूप में ही रहे कहीं भी भूले भटके हम किसी चीज साकार को परमात्मा न मानने लग जाएं, इसलिए ये संबोधन भी परमात्मा के लिए आवश्यक है परमात्मा को निराकार रूप में ही रखते हुए मन में भावना बनाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ